बीस चौथाई जो भी खुदा चाहता है वो इसके लिए अच्छा है वो इसके साथ मज़हब में इत्तेफाक करेगा और खुदा वही है जो तकसीम है और ये कौम अब भी उन लोगों का एक रुझान है जो है वो नमोदार हुए